पवित्र श्रीमद् भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणामे आगे पीछे मद तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंज नाम निर्लय सकल अनुव्य सोनदनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल उजल बेपरवाह था है वार पार नहीं मज तम ग्रीब जो सुमर सजोई गणना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणे समनाओ गणना यक देवन देवा चरण कमल लोला परम शक्ति संगीत मृद सिद्ध दाता सोई अवगत गुण सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीष ईश्वर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख ओ जय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे तैतीस कोटि दारा जावे उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी तैतीस कोटि दारा कट है यम की फांसी सात साहे आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वैश्रो गरीबदास जी महाराज की एक असीम कृपा से ये पांच दिवसीय विशाल सत्संग का दूसरा दिन है जैसा कि कल आप सुन रहे थे कि और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे और केस होवे गफलत में बंदे जाग जाग न जागरे सत्संग में आने से पता चलता है कि परमात्मा ने ये मानव शरीर इस प्राणी को किस लिए दिया था ये जानकारी संत ही दिया करते हैं अन्य सामाजिक व्यक्ति इस बात का ज्ञान नहीं रखते और जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे ऊपर उस ईश्वरीय कृपा की एक रजा होती है कि हमारे मन में ये बात रह रह कर जचती है कि हमने परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने जो ये मानव शरीर दिया है इसमें भगवान का भजन अवश्य करना था लेकिन उस बात का हमें ज्ञान नहीं रहा पता नहीं चल रहा बचपन से ही माता पिता से सीखा अपने पेट भरण की विधि जो वो कर रहे थे वही हमने ट्रेनिंग ले ली और उसी के आधार पर हम डट कर लागे यदि उनको ये जानकारी और होती साथ में कि भाई यू काम तो हमने करना ही करना है जो पेट भरने वाला है इस बिना तो काम चला को नहीं लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और है आवश्यक है वो है भगवान के नाम का परमात्मा का ध्यान करना लेकिन उसको हम नहीं कर पा रहे यही कारण है कि हम सत्संग की कमी रहती है सत्संग में बताया जाता है ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव अंदर बहुत अंदेश था बार बिसर गया पीवी परमात्मा ने कि कितना बढ़िया शरीर बनाया एक पानी की बूंद थे एक जादूगर की तरिया और कितना सुंदर बनाकर शरीर आपको दे दिया अब उस भगवान को याद नहीं करता तो परमात्मा तेरे से घना नाराज हो गया और उसकी नाराजगी का आपको कितना दुष्परिणाम मिलेगा जैसा कि कल आप सुने थे कि पीछे फिर पीछे तू पशुआ कीजे और दीजे बैल बना चार पैर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर भरे कि चार पैर जंगल में डोला है तेरा तो ना उधर भरे तेरा तो ना उधर भरे गरीब उर्दमुखी जज रहे थे और तल सिर ऊपर पांव रखन हारे राखिया भाई जठ रखना की लाओ जब तू मां के गर्भ में था नीचे न तेरे सिर था और ऊपर न पैर थे अब किसी व्यक्ति को एक घंटे ऊपर न पैर करके और बोरी में बांध के लटका दे अब देखो फिर उसकी तड़फ बोरी ने पाट दे मार लाता और नौ महीने काटे हम नौ संकट के मार पर भी याद ना आते हुए क्यों नहीं आते कि हम जानते कोई ना उन दुखों को और उनको फिर संत याद दिलाते हैं कि यो संकट आपने बहुत भयानक होगा और इतना कष्ट पाएगा एक माँ के पेट में थोड़ा सा स्थान होता है जैसे गुब्बारा हो है गुब्बारा पहले ऐसे चिपका हुआ रहता है जितनी हवा भरती रहती है उतना उकसता रहता है बस इसी प्रकार जितना हमारा शरीर बढ़ता गया माँ का गर्भ जो है उतना ही बढ़ता चला गया लेकिन रहा दबाव के अंदर और उसमें पैर ऊपर न सर नीचे और वह भी पैर मुड़े हुए सीध देवी को ना उस समय तो परमात्मा ने जिस विधि से याद करा था जिस कसक के साथ ईब ना बनता अब क्यों नहीं करता उसको वो दुख भूल गए अब किसी को थोड़ा सा संकट आ जा शारीरिक कष्ट हो जाए बीमारी हो जाए और बीमारी हो जाने से उसको कहेंगे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर के पास जाएंगे और यहां के लोकल डॉक्टर कह दे के भाई इसको वहां ले जाओ दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अति शीघ्र वो मरीज पूछता है जी क्या कारण है कोई खतरनाक बीमारी है क्या डॉक्टर कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आपने वहां चेकअप कराना पड़ेगा लेकिन वो जान जाता है कि बात तो बिगड़ेगी जब डॉक्टर ने ऑल इंडिया की तरफ लिख दिया रेफर कर दिया उस समय देखा उस भाई की उस व्यक्ति का किस प्रकार मन की वृत्ति होती है किस प्रकार परमात्मा याद आता है किस प्रकार वो सोचा है कि अब क्या बनेगी मेरे संग में ये परमात्मा रक्षा करियो ये भगवान तेरे बिना मेरा कोई को अब तो भगवान बिना कोई को नहीं और पहला सारी कुबद कमाई और फिर चलो वहां भगवान कृपा करें वो ठीक ठाक होकर के आ जाता है प्राणी उसके बाद क्या होता है जब वो ठीक ठाक होकर आ जाता है तो उसमें अब घर आते फिर भूल जाता भगवान को फिर वो ठेके ढूंढे कहाँ है वो दारू वाला ठेका वो याद करे और ताश खेलन लाग जाएगा अगर कोई सत्संग की कह दे सत्संग में को ना आवे क्यों अब भूल गया उस दुख ने जो मेडिकल में उसको तो जाने से पहले और मेडिकल के दौरान उसको याद रहा था अब उसके सपने में भी याद ना आती कि मैं फिर भी बीमार हो सकता हूं एक संकट टल जाए सोचा बस इब को ना अब क्यों नहीं हो बीमार भाई पहले क्यों होया था क्या पहले आपने सोच रखा था तो बीमार होगा एक बीमारी कटकी क्या और को ना लग सकती इतनी मुदी पर पत्थर हमारी पर डाल रखे इस देव काल देव ने कि ये जीव संकट आता है तो भगवान ढूंढे और सुख होते ही कुबद नटो है इसलिए संत याद में है ये दो दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ बिराणी आगरे ये दो दिन का जीवन है इसमें परमात्मा को याद जरूर रखना चाहिए ग्रीब उर्द मुखी जदर है था तल सिर ऊपर पावे रखन हारे राखिया जठ दठरगनी की लावे अब ये विचार करो उस परमात्मा की कितनी महिमा गाते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं जब तू मां के गर्भ में था उस समय परमात्मा ने तेरे शरीर को यह शरीर कैसा था हमारा उस समय कैसा था उस समय हमारा आपने चिड़िया का चीकला देखा हो अंडे में तो तुरंत निकलते ही बच्चा ऐसा अपना शरीर था और वो कितना नाजुक होता है ये हिसाब ला के देखो आप वो कितना नाजुक होता है और उसको पेट में मां के गर्भ में वो था उस स्थिति में जब मां खाती है मीठा खावे खट्टा खावे और नमक मिर्च का भोजन खावे उसमें उसके शरीर में खून के माध्यम तय <clears throat> जाकर के वह नमक और मिर्च वाला भोजन की जो अंश होता है उस नाजुक शरीर का ऊपर ऐसे डंक लगाता है जैसे बिच्छू लड़ा कर जिस प्रकार बिच्छू लड़ जाते हैं और फिर वो बच्चा अंदर मचलता है लोचा है चारों तरफ ने वो बच्चा फिर लोचा है तो वो ऐसे घूमता है ऐसे घूमता है अब नहीं घूमे तो मां मर जाए उसकी ऐसी व्यवस्था काल न कर रखी है अगर बच्चा घूमे नहीं तो वो मां मर जाए और गुमे कोई शौक में नहीं क्योंकि उसके ऑटोमेटिक सिस्टम इस देव ने कर राखी भगवान ने कि उसको ऐसे डंक लगते हैं और वो फिर तड़फ है बेचारा भीतर और फिर भगवान ने याद करा कि वहां ना मां का बेरा उसने ना उसको भाई का ज्ञान ना वहां पिता है ना पुत्र है उसमें केवल ईश्वर दिखाई देता है उसको और फिर उस परम पिता को रो रो कर याद करता है हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर कसक के साथ बोल नहीं सकता रोता है कहता है परमात्मा ए बंदी छोड़ हे दीनदयाल मेरी बंद छुड़वाइयो मेरा पाप काटियो मुझे बाहर निकालो मालिक आपको सदा याद करूंगा और जब ये बाहर आ जाता है फिर परमात्मा की आवश्यकता कोई ना और वहां पर क्या होता है कि उस ईश्वर ने आपके वहां शरीर की रक्षा के लिए कितनी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है जब हम भोजन खाते हैं भोजन जब हम खाते हैं इसको जब पकाते हैं खाने से पहले आग जलाई जाती है और आध घंटे तक एक घंटे तक उसकी सब्जी को पकाया जाता है रोटी पकाई जाती है और फिर हम खाते हैं और उसके बाद इस शरीर जाकर के अंदर उस भोजन को फिर गर्म करता है इतना गर्म करता है उससे भी सौ गुना ज्यादा जो आपने बाहर पकाया था अंदर शरीर में एक ऐसी सिस्टम है उसको जठराग्नि कहते हैं उसको जब पकाता है तो इतना गर्म कर देती है जठराग्नि की जठराग्नि बोलते हैं जो पाचन क्रिया की एक आग होती है गर्मी होती है ऐसी होती जैसे एक हजार सूरज की किरणा के समान इतनी गर्मी होती है अंदर और उसके साथ ही हमारा शरीर होता है वो नाजुक सा अब परमात्मा ने इतना एयर कंडीशन बना दिया शरीर को अंदर से उस मां के गर्भ के साथ ही ऊपर पेट होता है और उसके बीच में कितना बढ़िया पर्दा करके और कहते हैं उस मालिक ने वहां भी तेरे शरीर की रक्षा कर दी अब बाहर तू आया है भगवान भूल के क्यों वहां ईश्वर को याद करता था और तुझे कुछ याद नहीं था इसलिए उस मालिक ने तेरे शरीर की वहां रक्षा की नहीं तो तुझे वही खत्म कर देती वार अगर तू परमात्मा की उस समय कसकना याद करता था तो। अब भी अगर तू ईश्वर को याद करेगा उस परमात्मा की फिर इसी प्रकार कसक लगाएगा तो तेरी न्यू रक्षा करेगा जैसे मीरा की की और प्रहलाद की की और भी बहुत से प्रमाण हैं कि परमात्मा के ऊपर जिसका आसरा हो गया तो उनकी न्यू रक्षा भगवान फेर करेगा इसलिए उस ईश्वर ने तो फिर इसी प्रकार याद करना शुरू कर दे जैसे मां के गर्भ में संकट में कर रहा था ये याद होगा जब जब आप सत्संग सुनोगे सत्संग में आओगे ग्रीब उर्दमुखी जब रह था तल सिर ऊपर पाम रखन हारे राखिया जठरग्नि की लावे ग्रीब अस्थि चामरग रोम सब किसने की गोद उधर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध कितनी बंदी छोड़ने ने एक मार्मिक बात बताई है अस्त कहते हैं हड्डियों को चाम ऊपर की चमड़ी रग यानी नसे रोम ये रोम को ऊपर और किसने की ना गूद गूद कहते हैं मांस को और उधर बीच पोषण किया भाई व्यंजननी के दूध अब देखो वहां पर भी तेरे पालन पोषण का प्रबंध ईश्वर ने किया एक ऐसी नाल लगा दी ऐसी नाल लगा दी ऐसी नाल लगाई परमात्मा ने के मां के शरीर से जोड़ दिया और उसी से आपका वो पालन पोषण शुरू हो गया और जब तू बाहर आया बाहर आते ही मां के सतन में और दूध बेच दिया जब आपने देखा हो भैंस या गऊ ब्याव है बच्चा देती है उससे पहले उस थन में एक टोपा दूध नहीं था और जो ही बच्चा बाहर आया और बाल्टी ठोक देती है जो ईश्वर की कृपा वो परमात्मा ने हमारा पहला प्रबंध कर रखा है आज किसी को जो भी बहन भाई को उपलब्धि प्राप्त है कोई सुखी है तो भी अपने पिछले संस्कार थे और दुखी है तो भी अपने संस्कार थे हम तो सियाने सियाने गणे बने हुए हैं बाकी अपना पल्ला कुछ भी कोई ना है कोई ने सोचा मैं कर रहा हूं ईब टांग टूट जा बता करके देखा छह महीना में तो मेडिकल मत आवे खाट पर पड़ा पड़ा दूसरे का आश्रित हो जाए क्या कर सकते हो आप लोग ये जो अहंकार अभिमान अज्ञानता के साथ साथ हम या गलती और कर रहे हैं या गलती हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम नादान गणे हैं हमने बेरा को नैन बाता का इसलिए बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि गरीब अस्थि चाम रग रोम सब और किसने की न गूद उधर बीच पोषण किया भाई बिन जननी के दूध बिना माँ के दूध का तेरा वहां पर पालन पोषण भी ईश्वर ने ही किया इसी प्रकार यदि तो आज भी परमात्मा ने उसी विधिवत याद करना शुरू कर देगा तो वो दूर आज भी कोई ना आज भी तेरा न्याय प्रबंध कर देगा अब जैसा कि कल आपको मैंने बताया था परमात्मा की शरण में आने के बाद भक्त मुरारी के परिवार में जो सुख हुआ इनसे पूछो थरे गांव यहाँ इसी गांव का है ताजपुर के और जब तक परमात्मा का आसरा नहीं था इतने संकट थे बीमारी के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाना पड़ रहा था अब वो झंझट मिटा मन में शांति होगी भगवान का भजन शुरू हो गया अब उस ईश्वर की कृपा से हो गया वो काम और जब मान ले बेचारा कहीं कमावे भी था दो रुपये आदरी अपनी नौकरी पे और वो बरकत नहीं हो रही थी वो डॉक्टर का या किसी सियाणा का या किसी संता के चक्कर में और ये काम तो हमारे बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका तो कोई कीमत भी नहीं है इसका तो कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि ये सुख आपके हम ये मंत्र देव है ना और ना ही हम ये आपको नो कहते थारा नो सुख हो जाएगा हम ये कहते हैं तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा जन्म मरण नहीं होगा आपका और होगा मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा इस मंत्र का असली काम तो ये है लेकिन ये कार्य तो ये मुफ्त करस है क्योंकि इनके किए बिना यो दल डटे को ना ये मन नहीं मानना है जीव का और ना भक्ति मरुचि बने सिर में दर्द हो रहा हो किसी तो बोल ना जी ना करें और एक गोली ले ले सिर दर्द ठीक हो जा प्यार तो बतलावे इसी प्रकार भगवान जब तक संकट में प्राणी है भगवान याद विशेष संकट में नहीं आता आता है तो वह सिर्फ दुख के कारण थोड़ी बहुत देर विशेष कसक नहीं बनती और जब वो संकट टल जाता है फिर दिन में भगवान सौ सौ में याद आवा है परमात्मा ये बंदी छोड़ आपने बड़ी दया करी और बड़ी कृपा हुई आपकी फिर आरती ने भी मन करे दो पैसे धर्म पर लाने ने भी रुचि बने और संकट शरीर में बना रहे तो ठीक है वह बात नहीं बनती तो बंदी छोड़ कहते हैं पहले तो मैं तुम्हारे तेरे मन को सेट करूंगा कबीर साहब कहते हैं जिसको जो भी मानसिक परेशानी हो शारीरिक कष्ट हो या कोई अभाव है किसी को संतान नहीं है तो संतान नहीं है तो वो नो सोचा बस ठीक है भगवान मन मेरा बालक होने चाहिए ये परमात्मा और सारी बात ठीक से पर मेरा संतान होनी चाहिए अब संतान हो जाए तो उसका पेटा भरना था कति भगवान ने नहीं माना चाहे कितने गीत गायला उसका तो बंदी छोड़ कहते हैं पहले हम ईसा काटते टेन काटो और फिर रुचि बना उसकी देख क्यों करो भगवान बजे परमात्मा वही होता है जो अंध नाख दे और बांध न पुत्र दे और अंधे नाख दे और बांध न पुत्र दे उसको भगवान कहते हैं कोडिन काया दे निर्धन माया दे अब मैं आपको एक ऐसा प्रमाण बताऊं कि बांज को पुत्र करीबदास कबीर साहब भगवान ने दिया और गांव रसोड़ा में ये फोटो दिखाऊंगा उनके नाम भी बताऊंगा अरे जान में कई समस्या है कि सब नौके सारे संत एक सी बात बताओ संत सारे बराबर होते हैं भाई संत संत में घना फर्क हो से गऊ गऊ में फर्क हो से और भाई संत संत में भी फर्क होता है एक गऊ तो दूध ना दे लात ठोक कर दोनों गऊ तो भी से और गौवा भी है जो ब्यावन है और गौवा भी है जो दस किलो दूध दोनों टाइम दे दे तो एक गऊ गऊ एक सी क्यों करोगी नाम तो गऊ बराबर है लेकिन कर्म उसकी गुणों में गणा फर्क हो गया इसी प्रकार एक तो संत सारे काटे काटे एक बात बात बनावे मीठी बात सुना दे दुख नो के नो बने रहे वो मीठी बात का एक दिन काम करेंगी सांस तक ना काम करे वह उल्टा जान दे वो दुख नो का नो दरिया पावे और यू काटा काटे जानते पहले संकट न करे बंदी छोड़िए संकट मोचन है ये कबीर भगवान से ये लड़की ये बे बहन देखो इसका नाम है संतोष पत्नी श्री कृष्ण सन्नोफ प्रीता गांव करसोड़ा इस बेबे की उम्र देखो कितनी सा है या चालीस तो ऊपर उम्र है इसकी या शकल देखो इसकी और ये लड़का देखो गोदी में इसका ये कबीर भगवान ने बांझ को पुत्र दे रखा है अठारह साल इसकी शादी न हो गए थे अठारह साल शादी को हो गए थे आदमी तीसरे चौथा साल पांव पीटन लाग जाए अपने संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने सोचा भाई अठारह साल काट दिए ना और इसका पति कृष्ण जो है पुलिस में है दिल्ली पुलिस में कोई नो नो सोचे कि भाई ना दिखाई होगी घर में नादान आदमी होंगे गांव वाले थे नूस है भाई शाणे सुना के चक्कर में पड़े डॉक्टरों की डॉक्टरी इलाज और सारे श्याण और बोले सारे दिखा लिए डॉक्टर संत भी इन नाम भी किताब ले रखा था इन नाम का पंथ का नाम लूंगा तो तिरड़की उठेगी वो नहीं बताता मैं कितने ले रखा था इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लैंडे हो गया आजकल और दुख संकट जीव का मिटता को आ गया भैया पूरा इसको इंदार्ज करके लेना है बड़ा करके ले लिया ना इसकी आपको कहानी सुनाता हूं हम करसोला गांव में भक्त राजपाल के यहां पर पाठ कर रहे थे इनके पड़ोस में जो राजपाल भगत जी है उसकी पत्नी है उसका नाम है कृष्णा वो भी दिखाता हूं आपको उस कृष्णा की क्या हालत थी ये कृष्णा कम से कम आठ नौ वर्ष से इतनी दुखी थी यदि अपने मुंह तो बताओ ना वो कहानी तो जब ज्यादा अच्छी लगे इसका पति राजपाल ने बताओ था जी वही तो समय हमारा खाना खाने का शाम के समय और वो इस समय इसके तकलीफ है उनका हमारी तो रोटी बनी बनाई थाली में गली गलाई आप बनाया करते हम छोटे छोटे बालक नो की नो रह जाती इस भूखे सो जाया करते दो घंटे तो इसका तमाशा होया करता इतनी बुरी तरह रोया करती नो बहुत बुरा हाल था किल की मार मार के बहुत बुरी तरह सारा दिखा ली थी सैण्या का भी नाम भी कितने ले रहे थे ये और पूजा धोक अपनी सही जो पुरानी लाग से वो तो सारी कराई करा करते कोई माता धोकना गांव में एक गर्भ महात्मा की समाध हुआ पूजनी ये देखो ये कृष्णा पत्नी श्री राजपाल सन्नौफ मोदी राम गांव करसोला इनके घर पर पाठ था इस जब इनका संकट मिट गया तो इसने इस अपनी पड़ोसन संतोष को भी बताया कि बहन तो नाम ले ले मारे बंदी छोड़ का कबीर भगवान का और गुरु जी नाम देंगे और तेरे दुख दूर हो जाएगा शायद तेरी सुन ले भगवान कबीर साहब पर सुनेगा जब तू सच्ची लो लावेगी जय नकलीपन में रहेगी यू कोई ना सुने इसका एक नियम है भाई या तो मन में पूज ले या फिर सारी माता मुता धोख ले तेरी वाह तेरी मौज फिर मेरा नाम लिए पास तनिए छत्तीस पंगे और कति नहीं करने अब हम क्यों पूजें उन दूसरी पूजाओं को क्यों करते हैं ये भगवान हमारा सुख दे परमात्मा हमारे संकटान टाला जो हमारे ऊपर आने छे और उनसे वो टल नहीं रहे उनके लिए हम जाते हैं फिर किता और समाधान के लिए और वो समाधान फिर उनसे होना चाहिए था जिसकी तुम परंपरागत पूजा करते आ रहे हो कोई आठम न पूजे माता दो के श्राद्ध निकाले और कोई छठ न पूजे कोई हरिदास न पूजे कोई शेरा वाली न पूजे तो उनके भी संकट वहां नहीं निमड़ते उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई सेना की या कोई बुद्धा वालों का आसरा लेते फिर ऐसे तो महाराज कहते हैं एक का साथ दें सब सद है और सब साथ दें सब जा माड़ी सींचे मूल को तो फल फुलाएगा जड़ में पानी गेर डाल कर देखो तो ये जड़ है कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा है तो कहने का भाव यह है कि अठारह साल हो गए थे शादी ने इन्होंने 21 दिसंबर उन्नीस में नाम लिया 21 दिसंबर उन्नीस में इस लड़की ने संतोष ने और नाम लेने से पहले हमने इसको कहा कि जो भी पूजा तू करती है आज के बाद नहीं करेगी ना तने माता दोकना ना अठम बनानी ना कनागत का जड़े इस बहन को हमने बताया यानी बोली जी जैसे आप कहोगे मैं ऐसे करूंगी क्यों अब संकट में आ गई थी अगर वैसे स्वभाव किसने कहा ना कि श्राद्ध मत काटो और ये कुछ ना ग्रहण माता धोकड़ में और कुछ नहीं रखा ये उपवास आदि आप करते फिरते हो ये आपको लाभ नहीं देंगे हानि वैसे कर दे पत्थर पूजे फलाना पूजें व्रत राखे तो अब यह नो बोले जी जैसे आप कहोगे मैं न्याय करूंगी सपने में भी याद नहीं करेगी जब सुनेगा तेरी बेबे और ना सुने फिर हमने बताना इसने जी वो अपना पक्की गांठ मार ली पल्ले और इसके घर वाले यानी इसका पति और सास और ससुर कहने लग गए थे कि हम तो लड़के की दूसरी शादी करेंगे अब वह भी बेचारी भगवान आत्मा थे उन्होंने भी इतना समय देखा अठारह साल थोड़े ना होते आखिर में उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हम दूसरी शादी करेंगे संतान बना काम साल को होने और शादी तो संतान के लिए की जाती है इस लड़की के पति ने संतोष के पति ने और इसके सास ससुर ने ये फैसला कर लिया कि हम एक दूसरी शादी कराएंगे अपने लड़के की यानी कृष्ण की ये कृष्ण की पत्नी है अब इसने समस्या और बढ़ गई कि परमात्मा अब कौन बनेगी क्योंकि दूसरी पत्नी घर पर आए पाछे ये कुदरती बात होती है वो महसूस करती है पूर्व जो पत्नी होती है चलो चाहे वो अच्छे घर की भी आ जा ना भी दुखी करे ना भी कोई गलत बोला पर मन में शंका पैदा हो जाती है ये क्या करती है कि दो महीने के बाद तीन महीने जब कर, नाम लेने के तीन महीने के बाद जब रोज चर्चा शुरू होगी ये अपने मायके चली गई अपने पियर पियर में क्योंकि रोजाना के ये ताने से अब नहीं सुने जा रहे थे रोए अपने फोटो वही ले गई अपने मायके का वही जोत चलावे और रोजाना जो नियम हमने बताया था नाम जाप करें आरती करें लोग मारा करके दिखा देना जब मानो बनो तो उस परमात्मा की कृपा है वो किन परिस्थितियों में मौज बख्शे सो सो रो इसके चरणा में और विशेष प्रार्थना करें और फिर ये सुने भाई लेकिन हम इस स्थिति में नहीं आते कि वो मालिक हमारी सुने हम तो अंडी पाक का कमाए अंडी पाक का तो हम कोई किसी पर कोई राज वस्तु मांगने चले जाओ किसी पर टीवी ले चले जाओ भाई टीवी दी हमने अपनी धार्मिक पिक्चर देखनी से अगर हम उसने नौका जानते हैं तो टीवी देना हक नहीं देना बताओ वो जब भी ना जाएगा इन्हों कहेगा कोना मारा तो खराब हो रहा है एक हम प्रेम पूर्वक बात बैठे दो बात करें भाई बच्चे क्या करते हैं बाकी सब ठीक है और मौज हो ठीक है एक काम था थोड़ा सा अगर आपकी कृपा हो बच्चे ऐसे ऐसे धार्मिक पिक्चर देखना चाहते हैं आपके टीवी बताओ से ना होना जब भी दूसरे का भी लाकर दे दे आदमी इतना प्यारा बोला था और हम भगवान तो वो सुखचा मधवान होनी करे और उसको एंडी पाक कर कमाते कोई ना करे भाई उसने के आठ लायक से इससे भी ज्यादा नम्रता लावांगे ना आम व्यक्ति से भी जो भगवान सुना करे तो जिसने वहां पर अपना इसकी मान बताया फिर चोरी की ने क्या घंटे घंटे रोया कर दी इनके चरणा पड़ कर बुद्धि छोड़ के मैं जब और सहारा ना दिखे जब शरण तिरी में आए तो वहां पर पांच महीने दो तीन महीने जब इसने गई ना हो लिए ना वहां पर तो पीछे थे इसका सुसर जाता है एक बंदा और उसके साथ में व्यक्ति और वो जाकर इसके पिता तक तो कहता है संतोष कहते हैं कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे हम लड़के की दूसरी शादी करना चाहते हैं देखो हमने इंतजार बहुत कर ली कि हमारा कोई दोस्त भी ना समझना उन्होंने बड़ा खराब की बात तो ठीक से हम ये तो हम भी नहीं नाटेंगे इस बात को क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई वो घर जाता है अपनी पत्नी से बात करता है संतोष की माँ है तो। उसकी मां से कहता है कि न्यू नो संतोष का ससुर आया हुआ है और कहता है कि हम दूसरी शादी कराएंगे अपने लड़के की उसकी मां को मालूम था कि लड़की का गर्भ है और पांच छह महीने का हो रहा है चार पांच चार एक महीने चार पांच महीने का पांच छह महीने का तो वो कहने लगी अपने उससे बताती है कि मैं चलती हूं वो पौड़ी में गई और कहा कि थोड़े से दिन और डट जाओ आप दो तीन महीने चार महीने हमारे कहते हैं फिर कर लियो वो बोले ठीक सर जब इतने दिन रुके तो चार महीना में की बात से यानी अच्छी आत्मा के आदमी थे ये कहा जाएगा तो वो घर आ गए वो दूसरा था उसके अकेला ने बोले भाई प्रीते बात में कुछ फर्क फर्क लग गया भाई या तो जिस ढंग से वो बोल रहे हैं ना या तो बालक गर्भ में है इसका पता करवा उसकी सास भेजी वह गई वह वापस आ गई न वाली मौज कर दी उसके बंदी छोड़ गए उसकी माँ ने बताया छोरी की ने कि या तो दो दो घंटे इस बंदी छोड़कर का रो ऐसे और ये मंत्र करा यानी किताब किसी का ना देखती भी कोई कमोई का भी व्रत नहीं करा इसने न बोली मेरा तो यूस है जो कुछ से नौवे महीने दसवें नौवे महीने बंदी छोड़ना दसवें महीने में और वो लड़का दे दिया बर सतगुरुदेव की बीस दस उन्नीस सौ सतानवे को लड़का हो गया इक्कीस दिसंबर छियानवे में नाम लिया था दस महीने पूरे ही मुश्किल तो पाए इतना कहते हैं दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरम पूरे अरे कोई देर को नहीं देर है तुम्हारे तुच्छ विचारों की है हमारे विश्वास की कमी है इस ईश्वर के ऊपर हम कबीर साहब को भगवान नहीं मानते क्यों नहीं मानते क्योंकि इसके गुणों से हम परिचित नहीं है इसकी लीलाओं का हमने ज्ञान नहीं है हमने ज्ञान सुना तीन लोग के भगवाना का माता और मसाणिया का ओई और कमोइयों का इन्हीं पर आधारित हो गए ये भी परमात्मा है तीन लोग के हैं ब्रह्मा विष्णु में से जैसे सौ के नोट में आप सारे बता दोगे और महिमा का भी बेरा पांच सौ के भी बता दोगे और लाल दर्द हूं आपके सामने आपने कहोगे हो ही नहीं सकता इतनी कीमत हो आगरा नौ करोड़ की ये छोटा सा कंचा दिखा आप विश्वास ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके वो व्यवहार में कौन है आपके व्यवहार में नहीं है वो लाल इसलिए आपने उसकी कीमत का बेरा नहीं अब जैसे पहले हम पटवारी को सबसे महत्वपूर्ण माना करते अन्यों क्या करते कहते हैं कि बुढ़िया विधवा थी एक लड़का होकर उसका पति मर गया था और बड़ी मुश्किल से लड़का पाला बेचारे ने मेहनत सी करके लड़का ला गया तहसीलदार जब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तेरे सारे संकट दूर हो गए अब तेरा बेटा तहसीलदार लाया गया और माँ इतने बड़ी दुखांत पाड़ा समय वो अपनी माँ की मौज करूंगा ठाठ तो बैठी नौकर लाऊंगा नौकर नौकर बेटा भगवान करे तौड़ा पटवारी बन जा आशीर्वाद देती है माँ भगवान करे जल्दी ही पटवारी बन जा तू यानी उसको पटवारी से भी छोटा मानना थी अपने बेटे ने तहसीलदार को और तहसीलदार पटवारी से सुप्रीम पावर होती है अब नादानी का कारण बताता हूं कि उन्होंने पटवारी के गुणों का ज्ञान था गांव में इससे ज्यादा नहीं मानते थे पहले आज से तीस चालीस वर्ष पहले तो वो उसका लड़का बहुत अच्छा मेरी माँ कती है बोली है माँ पटवारी जो है ये तो हमारे से नीचे होता है लन्ना ना रे बेटा पटवारी कैसा कोई ना क्यों उसने वो पटवारी ही राम दिखा था गांव में इतनी महिमा होती थी पहले पटवारी की तो एक सिपाही चला जाता था सारा गांव लुकता इंडिया करता एक सिपाही थे इतनी अज्ञानता थी इतना डर बढ़ा हुआ था नादानी का और ईब चाहे एस पी गांव में क्यों उसकी स्थिति का बेरा पट गया उससे ऊपर की शक्तियों का मालूम हो गया इसी प्रकार आज हम राम और कृष्ण तो ऊपर नहीं मान सकते क्योंकि हम ऊपर जानते कोई ना एक बार एक अखबार में आई हुई थी उसमें किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था इसको संभाल के रखो भाई किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था कि उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया उस पर मुकदमा चल रहा था और पता लग गया कि उसको सजा होगी उसमें अखबार में कार्टून सा छापया करें आशी और मजाक का उसमें क्या लिख रखा प्रश्न कर रहा है एक भक्त कि भाई अगर प्रधानमंत्री के ऊपर ये केस हो जा प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री की भी सजा हो जाएगी वो, वो कहनो प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है इसकी क्यों ना हो जाएगी प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है नो कहे कि इसकी सजा क्यों ना अर्थात तो वो प्रधानमंत्री को डीसी से डीसी को प्रधानमंत्री से सुप्रीम मान रहा था क्योंकि डीसी की उन्होंने आम सुन रखा इबका कहते हैं ना किसी को क्यों के डीसी लाग रहा है तन्यू कर देगा अर्थात हम डीसी को ही सुप्रीम मान बैठे थे ऊपर का ज्ञान नहीं था और डीसी और प्रधानमंत्री तो मेल करें तो प्रधानमंत्री का अगर डीसी की कोई पावर नहीं है जैसे एक हजार वाट का बल्लभ जड़ जा तो वहां पर चालीस वाट का बल्लभ के मैं ना काम करा करें रोशनी तो है उसकी पर वो ना हो जब है वो है जब उसकी रोशनी काम नहीं करे इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के सामने शक्तियां तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी है अब दिन निकल गया ये समझ लो भगवान कबीर साहब है और ये बल्लभ चसे आप भी चस रहे हैं ये आपके ब्रह्मा विष्णु महेश है जब सूर्य ना हो तो ये भी बतेरा चांदना करें से ऐसी बात नहीं है पर जो दिन अब जो चांदना हो रहा है इन्हें पास सिंह भी कौन है इनका अब इन बातों का ज्ञान होगा जब आप आपने कबीर साहब की समर्थता का पूर्ण ज्ञान होगा जब आपके विश्वास होगा और इस पांच दिन में हमारी यही कोशिश होगी कि इस अंधेरे को विधिवत हटाया जा न्यो नहीं के वैसे तुक्के मार के वैसे कह जुमा कबीर साहब भगवान है कोई ना माने उसको भगवान सदकरण की खातर बीस प्रमाण देने पड़ते हैं एक पॉइंट पर और जब ये मन जो हमारा थोड़ा सा स्वीकार करे शायद ही हो यू फिर तो शायद पाते हम और ब्रह्मा विष्णु मैं इसको वैसे मान लिया क्यों कभी कोई मिलका है उनसे बताओ कौन सा फिट है उस ब्रह्मा विष्णु में शास्त्र सिर्फ शास्त्रों से ही ज्ञान हुआ पाने और उन शास्त्रों के ज्ञान के बार बार सुनने से उनकी लीलाओं को सुनने से हमने उनको भगवान पक्का मान लिया अब वो भी जो के त्यों हैं मना नहीं किया सतगुरु महाराज कबीर साहब ने यही विशेषता इन संतों में है गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कबीर साहब के शास्त्र में उन्होंने इनको मना नहीं किया उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बताई है जो शास्त्र बताओ तीन लोग के भगवान हैं कर्म के दंड को दे सकते हैं कर्म का सुख ही दे सकते हैं कर्म से कम बत्ती नहीं कर सकते जन्म मरण को नहीं मिटा सकते चौरासी भोगनी है तो भोगनी ही भोगनी पड़ेगी आपने ये नहीं काट सकते और कबीर साहब इस झंझट को मेट सकता है ये इस संकट को मिटा सकता है अब भगवान हम किसने कहते हैं जो बांध न पुत्र दे ये आपके सामने प्रमाण दिया भगत संतोष ने और इस बेबे ने पूछ के देखो जाके फिर बेटा जब रहा इंसान का हम तो न सोचे प्रथम तो हम स्वाभाविक जिक्र करें विश्वास नहीं क्योंकि ये अनहोनी है और आजकल होती को ना हम तो ये सोचे जो पहले होया करते जो जरूर पर लादर थे ईब थोड़ा उसे क्यों ईब कौन सा भगवान बदल गया परमात्मा जो का तू पृथ्वी वाय लेकिन हमारे विचार बदल गए हमारी विधि परमात्मा को पाने की वो प्रक्रिया बदल गई जिसमें ईश्वर को हम पा सकते हैं वो नहीं रही और उस उस क्योंकि ऐसी गिरा दी हमारा सतर इन नादान संतों ने जिनको पूर्ण ज्ञान ना था अपने पेट भरने के लिए इस सतर को इतना गिरा दिया कि गुमराह कर दिए कहते हैं गोवर्धन की पूजा करने लायक उस पत्थर के उस पहाड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लायक क्यों काटे कि गीता जी में लिख रखा है कि गोवर्धन पूजा करियो तुम उधर से गीता जी के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और और पूजे गोवर्धन को गीता जी में क्या प्रमाण दे रखा भगवान कृष्ण ने ये आपा ने कदे सोचा है को नहीं ये शास्त्र हमारे द्वारा आए को ना हमारे थी किसी ने बताया को नहीं अपना अंग्रेजी हिंदी संस्कृत में गट गट गट करी उसका सरलार्थ के मैं बता दिया अब संस्कृत ना आवना हमने सोचा नहीं लिख रखा होगा इसमें तो ये बोल रहा है क्यों संस्कृत हमें मालूम नहीं हुई ये गीता जी है और गोरख गीता प्रेस गोरख गोरखपुर वहां से प्रकाशित है जो कि हिंदुस्तान की सबसे सुप्रीम और श्रेष्ठ प्रेस है वहां पर केवल वही श्रेष्ठ शास्त्र छपते हैं जो सत्य होते हैं अपने हिंदू धर्म के आपके वैसे और नहीं छपते ये वहां गोरख गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है ये नीचे लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर इनके लेखक हैं ये है श्री जय गोविंद का गो, जय दयाल गोविंद का इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ लेख लगा रखा है ये शुरू में ये जय जय दयाल गोविंद का ये इनके लेखक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता जी है इसने इसके सरलार्थ किया हुआ है टीका किया है इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण क्या बताया हमारे को हम कर क्या रहे हैं रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम अधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा कलयुग में केवल नाम ही जात से जीव छुटकारा होगा और हम पूजें क्या आप देख लो मंडी मसाणी पूजा मंदिर में घंटी बजावा पत्थर में पानी गेर कावा तो महाराज कहते ये पूजा किसने बताई थी कि गीता जी में को ना ना रामायण में लिख रखी ना किसी शास्त्र में प्रमाणित ये क्यों करने लग गए भाई इन बातों का आधार जब हमने पता चलेगा के अंदर ब्रज में एक अक्षेत्र है ब्रज जिसमें वृंदावन मथुरा और ये आसपास का क्षेत्र आता है उसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं जैसे हरियाणा कह दें तो उसमें क्या हुआ कि ब्रज में पूजा होती थी भगवान इंद्र की इंद्र कौन है देवताओं का राजा और देवताओं के राजा इंद्र की कढ़ाई होती थी भगवान कृष्ण कहने लगे ब्रज क्षेत्र वासियों को कि तुम ये पूजा मत करो ये देवताओं की पूजा ठीक नहीं है ये तुम्हें नरक में ले जाओगी और यह पूजा मत किया करो ब्रजवासी डर घने रहे थे जैसे हम डरते हैं कदे अपने दो डाले बाबा छोड़ दार हमारे घर जानते या पुरानी मान जो करते हैं छठाठम की वो त्याग दें कहीं वो नाम हमने दुखी कर दे और उसको पूजते पूजते जो संकट आपके ऊपर है वो समाधान नहीं हो पा रहा ये ये भी तो सोचना चाहिए था क्योंकि भगवान कृष्ण पर उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये भाई कंस जैसे मार दिए पूतना जैसे प्राण हर लिए और शिशुपाल जैसे का सिर काट दिया तो थोड़ी सी मन में शांति सी विश्वास सा दृढ़ हुआ भगवान कृष्ण के कहने से उन्होंने देवी देवताओं की पूजा इंद्र की कढ़ाई बंद कर दी जब इंद्र की वह कढ़ाई का दिन जालिया वो उत्सव नहीं मनाया गया लिखा है कि इंद्र जी ने अपने बादलों को हुक्म दे दिया क्योंकि इंद्र सिंचाई मंत्री है सिंचाई मंत्री भी नहीं है चीफ इंजीनियर जिसे कहते हैं इरिगेशन का नहर महकमे का ऐसा है ये तो इसको ऊपर से हुक्म होता है कि उस क्षेत्र में बारिश करो वहीं ये बारिश कर देता है लेकिन अब उसने अपनी अपने शक्ति का दुरुपयोग किया उसने क्या किया कि सारे ब्रज को डुबोने के लिए क्रोधित होकर अपने बादलों को हुक्म दे दिया कि बादल जाओ और ब्रज क्षेत्र को पानी से परलय कर दो तो सारे बदल छा गए मुसलधार बारिश होगी शुरू भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसको सारे ब्रज पर छा दिया और उसको सारा इंद्र बरस लिया पर नीचे ब्रज की भूमि पर तब का ले भी नहीं भीजा महाराज कहते गरीबदास जी लिखा अपनी वाणी में के इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खागे देव इंद्र चढ़ा ब्रज डबोण और भीजा भीत न लेव ना ले बीजा पहले लिप्या करते थे कच्चे मकार होते थे उनको ले बोलते थे ऊपर पापड़ा सा होता था न बोले बीजा भीत न लेव और सारा इंद्र थक के हार के बरस के चरणा मा के प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे से गलती होगी मैं क्षमा चाहता हूं अकबाई ठीक सर तुम्हें न क्यों दुखी करो थोड़ा काम यू थोड़ा देवता का गिन कर चौबीस घंटे डंडा रखो बेचारे के किसी की मैं इसका थन खराब कर दिया किसी का छोरा बीमार हो रहा तुम मैंने मन पूजे तुम मैं न गड़ो या कोई बात हुई और जाओ आप यहां से आज के बाद ब्रज में तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी अब ठीक से जी तो उनको बताया कि तुम उस परम पिता परमात्मा का भजन किया करो उस ईश्वर की पूजा करो और यज्ञों का आसरा लो ये पाखंड को तो त्याग दो ब्रजवासियों ने वो पाखंड त्याग दिए और ईब फेर मेरे जैसे बुद्धिहीनों ने क्या किया न बोले भगवान कृष्ण ने बताया था गोवर्धन की पूजा करो रब फूटे बाघ थारे देवताओं की पूजा तो छुटवाई पत्थर की पूजा भगवान कृष्ण बतावा था उसका प्रमाण किधर गीता में होता हमने बता दो क्योंकि गीता जी का वो अनमोल शास्त्र उनके द्वारा प्रमाणित है और गीता जी में देवी देवताओं की पूजा को महाराज ने गलत बताया नौ कबीर भगवान इसने कृष्ण भगवान ने सातवें अध्याय के बीस इक्कीस तेईस श्लोक में आपको बताता हूं इसी गीता जी में सातवें अध्याय के 20, इक्कीस और तेईस में नंबर सात का और नौ के तेईस और पच्चीस में नौ के तेईस और पच्चीस में हे अर्जुन यद्यपि श्राद्ध से युक्त जो सकाम भक्त श्रद्धा से युक्त श्राद्ध नहीं हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को यानी भूत बन जाते हैं भूतों को पूजने वाले भूत बन जाते हैं और जो मेरा पूजन करते हैं जो लोग मम यानी मेरा यानी ईश्वर का पूजन करते हैं वो मुझको प्राप्त मुझको ही प्राप्त होते हैं अब ये विचार करने की बात है कि वो कहते हैं वो पूजा है तो मेरी ही जो देवी देवताओं की पूजा पर वो नादान लोगों की है वो नरक में ले जाएगी उन्हें मेरी पूजा जैसे कोई कहे प्रधानमंत्री कि जो पूजा तुम पटवारी की करते हो वो भी मेरी ही पूजा क्योंकि वो मेरा अंश है लेकिन तुमने लाभ तो ना दे सकता पूरे वो उसकी तो सीमित वो है और वहीं तक वो सीमित रखेगा अग्र लाभ तुम्हें तो मिल नहीं सकता और मेरी श्रद्धा करो मैं सारे काम कर दो इसी प्रकार वो भूत जो है, है तो ईश्वरीय शक्ति के क्योंकि प्राणी है सारे जीव सीखे और पितर भी और देवता भी उसी परमात्मा के लेकिन वो पूजा तुम्हें नरक में ले जाओगी ये पूजा तुम्हारी ठीक नहीं है आगे लिखा कि उन भोगों को की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं मतलब मतिहीन लोग बुद्धि भ्रष्ट लोग लिखा महाराज ने कृष्ण भगवान ने कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता को स्वरूप से स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहते हैं उस भक्त की श्रद्धा से मैं उसी देवता के प्रति शिथिर करता हूं अब जो जिसने पूजा भूत पूजा भूता भेज दूंगा देवता ने पूजा देवता के यानी इंद्रलोक में भेज दूंगा इंद्रलोक में जाकर आपने के काम होगा आप उन देवताओं के नौकर लागोगे देवता होकर गधे बनोगे उनके इंद्र की पालकी को देवता लोग उठाते हैं आगे पाछा लागन चार जने का हार बनकर है और इंद्र ठाटता है उड़ा झाड़ू काट रही है देवता देवताओं के जो छोटे मोटे साधक उनके दाते हैं उनके पहरेदार नौकर चपड़ासी बनते हैं और नौकर मेरी शरण मांगा तुमने पूरी मौज दो भगवान कृष्ण कहता है जितनी भगवान कृष्ण मौज दे सकता वो दे सकता क्योंकि मुख्यमंत्री की भी अपनी शक्तियां न्यारी होती है लेकिन प्रधानमंत्री का अगर मुख्यमंत्री भी कुछ भी कोई ना कुछ भी कोना का तात्पर्य तो नहीं है कि उसकी शक्ति नकारा है लेकिन जो लाभ प्रधानमंत्री दे सकता है वो नहीं दे सकता प्रधानमंत्री में शक्ति बताते हैं इतनी है कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को हटा सका है और उसके स्थान पर छह महीने के लिए नागरिक जो हिंदुस्तान का जिसको वो ठीक समझे उसको बैठा सकता है इलेक्शनों की हो सकता है कोई ना छह महीने तक तो उसको अर्थात सुप्रीम पावर है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसी इसलिए उन अब आगे कहता है तेईस में सातवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में बिल्कुल तोड़ कर दिया बंदी भगवान कृष्ण ने परंतु उन अल्प बुद्धि वालों अल्प बुद्धि वालों यानी कति छोटी बुद्धि वाले व्यक्तियों की पूजा अल्प बुद्धि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे को पूजने वाले मुझे मिलेंगे और अंत में मेरे पास ही आओगे अर्थात कहने का भाव यह है कि देवराज इंद्र की पूजा कभी भगवान कृष्ण ने मना किया और हम उनने फिर पूजन लागे वो किसने पुजवाए वो मेरे जैसे नादाना ने पुजवाए जिनको पूर्ण ज्ञान था को नहीं अपना पेट भरने का धंधा ढूंढ लिया उनको कह दिया गोवर्धन गोवर्धन की चक्कर काटो गोवर्धन का काम उस समय पूरा हो लिया इब गोवर्धन में कुछ नहीं दरिया अब यह समझ में ना आवे क्यों नहीं आवे क्योंकि हम नादान इतने हो लिए हमारी साधना इतनी प्रागाढ़ कर ली हमने यह नादान भक्ति और अनजान साधना में इतने लीन हो गए अटाए तभी नाटते को तो हम आज कह रहे हैं कि यह पूजा तुम्हारी गलत है एक बार तो कल इतनी मान आदमी नो का हमारे तो बता छठने भी ना पूजन देते ये बता के करे हमारे तो सत्यम ने भी ना पूजन देते पूज लो हम के नाटे हैं पर मारी शरण माओगे तो भाई ये हमारा समाधान बने कोई नहीं अब कई बातें होती हैं धीरे धीरे समझ में आती हैं हम हरिदास की पूजा इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक फैली हुई है और उसको हम खूब मानते हैं जहां भी जाते हैं पूरे के पूरे गांव उसी संत के आधारित हो रहे पर वह पूछ जाते देखो वहां क्या हो कर रहे हो तुम लोग ये तो सोचो थोड़ी बहुत विचार करके ठीक है संत जितने हुए हैं आदरणीय हुए पर उनकी शक्ति कुछ सीमित थी अब सब तो डीसीबी है और सब एसडीएम भी है और सब तो भाई तहसीलदार थानेदार भी को आवे अब ये कहते हैं कि मान ले आप थानेदार कब आश्रित हो गए तो थानेदार भी लाभ देगा आपने ऐसी बात ना कोई ना दे पर उसका कर्म क्षेत्र उसका कार्य क्षेत्र उसका बहुत सीमित है और एक ही टाइप का लाभ दे सके दूसरा नहीं दे सकता दूसरा संकट आपने भोगना ही पड़ेगा इसी प्रकार हरिदास जी विष्णु उपासक संत थे और वो पिछले जन्म के सिद्ध पुरुष थे बचपन से उनकी शक्तियां शुरू हो गई थी प्रगट होने लायक थी और उसके आधार पर वो काफी बहुत चर्चित हो गए लेकिन उस समय जो उनके संपर्क में आए उन्होंने तो वो लाभ दे जितना वो दे सकते थे लेकिन अब मंडी बनाए पाछा वो बता के लाभ देंगे या उत्तर से कोई ना हरिदास जी उस मंडी में बैठे होंगे या तो मेरा समझ तो बार बात से कि वो परमात्मा ये उस मंडी के भूखे बैठे हैं कि उस तुमने जो तो बना रखा मंदिर वो तो अपने स्वर्गलोक में गए होंगे देवता बन गए होंगे साधना खातिर आए थे यहां पर अपने करके चले गए अब तो वहां पर कुछ नहीं रहा कैसे जैसे मोहम दस्ता होता है और एक सामग्री कुटनी थी किसी ने अवन की और किसी का मोमदस्ता मांग लिया और ला अपने घर पर सारी सामग्री कूट के और मिला के उसको सामग्री बना के और सारी निकाल ली कति पूछ ली कपड़े लिया और कति धो के समझ करके उनकी खाट कत नीचे रखा पाई के तले अब वो कमरे बढ़ते हैं नो कर बड़ी मैं कार तो नो ढूंढते ढूंढते देखा को हो ये तो ये मोमदस्ते मारी है हाँ भाई बड़े आनंद आ रहे हैं पर वह थोड़े से दिन में खत्म होगी उस दिन तो आई पर वह खत्म होगी वो वस्तु नहीं थी उसमें जो उसमें बना ले गया माल कूट के अब तो सुखी की महक रह रही थी वह भी खत्म होगी इसी प्रकार उस संत ने हरिदास जी ने झापड़ोदा में बैठ कर अपनी वह सामग्री कूटी भक्ति की और करके भक्ति स्वर्ग चले गए अब उड़े थोड़े से दिन महक रही वह वह भी नष्ट होली इसलिए वहां कुछ भी लाभ नहीं है पर यह बात समझ में कोई ना आवे फिर तो गीता जी फेल अगर उड़े जानते माथा टेकन तो फेल हो उसमें लिख रहा क्या नाम जप्या करें भगवान का पूरे परमात्मा का अब ये बातें समझते बार होली मारे अब पूजा हम सभी करते हैं और संकट जो के तो बने हुए ये बहन आई हुई है जगमती टीकरी बॉर्डर तय एक बार इसका फोटो ले खड़ी हुए बेबे का फोटो उधर बहन का फोटो लेकर इधर आ जा बेबे आ रहे हैं से बहन जगमती पत्नी श्री सुरेश गांव टीकिले बेबियापट और इसकी लड़की जो है के नाम से लड़की का है पूनम उस समय वो सात आठ वर्ष की थी और हो तीन साल की का तकलीफ होगी थी और हमारी शरण में दो वर्ष हुए अपना इन्हें दो वर्ष है उस समय लड़की नौ साल की थी बस भाई आज बस बेटी बैठ जा बैठ जा ये लड़की पूनम नाम से और सुरेश की लड़की है या बहन इसकी माँ से जगमती या कन्या या देखो इस या लड़की अब इनमें पूछो भगवान किसे कहते हैं और अपना काम छोड़ के पांच दिन खातिर सेवा माई है भगवान वो तो मुफत में सुख हुआ और ये कर्म आगे का अगले जन्म की तैयारी हो इस जन्म में सुख हो ये पूनम पुत्री श्री सुरेश गांव टिकरी कला बॉर्डर वाली हो गया लड़की का फोटो ठीक है अब इसकी मां बता के गई कि तीन साल की का तकलीफ हुई थी और ये दो वर्ष पूर्व जब नौ वर्ष की थी जब इसने पता लग गया नहीं क्योंकि एक दूसरे के साथ से ही पता लग गया ज्ञान होते तो इसने नाम लिया और इस लड़की को भी नाम दिया उससे पहले यह लड़की घर तो भाग जानती और सारा इलाज करा लिया सारा दिखा ली ये कहती कि झाड़ोदा में मैं अपनी लड़की ने लेकर हर छठ को जाया करती वहाँ का जोड़ का पानी भी लिया करती उसको पिया भी करती दुख में ग्रहण के क्या करना पड़े हर छठ को आए महीने दो साल गई और उन्नीस इक्कीस का लाभ नहीं दूना दुख हो गया अब यही हम कहना चाहते हैं कि वहां हरिदास जी नहीं है वो स्वर्ग में चले गए हरी पूजा उसके जोड़ ने चाड़ा पाट दिया और ये नादानी हटानी पड़ेगी हमने ये जब तक नहीं हटेगी इतना लाभ कोई ना और फिर उस कबीर भगवान के मंत्र ने इस अब लड़की कई बार भाग जाती बाहर नादान थी उसके बस की बात नहीं थी पागलपन था डॉक्टरों की दवाई दवाई कई बार तो पुलिस वाले घर छोड़ के गई अब नो कह दी जवान बालक हो गया था अरे तो कभी मरण हो जाता है अब इस दुख ने ये माँ बाप जाना दूसरे ना बेरा